और जिन लोगों ने कुफ्र किया बस उनके लिए हलाकत है और उस अल्लाह ने उनके आमाल ज़ाया कर दिए